यकीन रखो कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन अपने रास्ते से भटक रहा है और वही उन लोगों को खूब जानता है जो सही रास्ते पर हैं